सब कथा सुहाई जो कुसुंड खगपति सुनाई अशुक राम गुण कहूँ बखानी अब का कहूँ तो कहूँ भवानी सुन सुग कथा माहर सानी बोलियत बीत धन्य धन्य मैं धन्य पुरानी के बाद ब्रह्म लोग चले गए बस चले गए उसके बाद जो वो हो भगवान की लीलाएं जो वो जहाँ तक हम जानते थे कह दी जैसे कुछ हम समझते थे कह दी गिरजा सुनो सभी कथा अब बस उस कथा की महिमा सुनाने लगे कथा सुनाई जाती है उसके बाद उसकी फलत होती कथा सुनने का फल क्या है ये बोलते हैं शंकर जी बताने लगे कि ये बहुत विशद कथा है ये विशेष कह कथा बहुत बड़ी भी कथा है बड़ी गहन भी कथा है और बड़ी ज्ञान और भक्ति ये सब इस कथा में भरे हुए हैं तो इसमें ये एक प्रकार से अपार कथा है कहते हैं ये कथा मैं सब कही मोरमती जथा लेकिन सब तो कही नहीं जा सकती जितनी हमारी बुद्धि थी उतनी हमने क्या सुनाई थी मैंने भगवान की कथा तो अनंत लेकिन जिसकी बुद्धि में जितनी आती है उतनी वो अपने कह देता है शंकर जी इसीलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं समझे कि हमने सब कह दी इसलिए आगे कहते हैं कि रामचरित्र सतकोटि अपारा भगवान के चरित्र तो अपार सतकोटि करोड़ों करोड़ों ने उनको कहाँ तक निकाल उनका सबकोट रामायण उसका नाम का रामायण का नाम ही सबकोट रामायण सचकोट रामायण कहते वाल्मीकि जी ने सतकोट रामायण लिखी थी उसमें सतकोट श्लोक थे इसलिए उस रामायण का नाम सतकोट रामायण लेकिन बाद में क्या हुआ कि वाल्मीकि जो सतकोट रामायण थी उसका एवरेज एडिशन निकला उसको संक्षेप किया गया थोड़े थोड़े करके उसमें से श्लोक निकाले गए और निकाल करके छान करके जो इस समय उपलब्ध है वो वाल्मीकि की बहस रामायण का एक छोटा भाग है उसको हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं संस्कृत में जो प्रकाशित हुई गीता प्रश्न में भी और दूसरी जगह भी है वो सबको रामायण का संक्षिप्त भाग है सबको तो ऐसी रामायण है इस प्रकार की बहुत सी रामायण रामायण भी बहुत सी है वो भी सैकड़ों है हजारों है लाखों है वो भी बहुत है अब वो कितने कितने लिखी कब कब लिखी तो एक तो यही कि जितने की अपने पुराण है सब में कथा है भगवान की कथा सभी पुराण है चाहे शंकर जी के पुराण हो चाहे विष्णु पुराण हो चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण हो चाहे कोई पुराण हो भगवान की कथा जरूर थोड़ी बहुत कही जाए संक्षेप में हो विस्तार में और उन सब पुराणों में भगवान की जो कथा कही गई है उसमें किसी विशेष दृश्य का विस्तृत वर्णन है कोई भाव का विस्तृत वर्णन है कहीं जन्म का ज्यादा वर्णन है कहीं विवाह का ज्यादा वर्णन है कहीं युद्ध का ज्यादा वर्णन है कहीं अरण्य का ज्यादा वर्णन है ऐसे करके अलग अलग उनके वर्णन उनमें वो तो विभिन्न प्रकार के प्रकार की है सभी पुराणों में इस प्रकार ये जो देखते हैं अध्यात्म रामायण ये भी एक पुराण का ही एक अंश है ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक भाग है उसका अध्यात्म रामायण है तो अध्यात्म रामायण स्वयं एक अच्छे विस्तृत रामायण है और इसकी अपनी विशेषता है मैंने इसमें जो ये है भगवान के जो आध्यात्मिक प्रतीक हैं उनका सबका वर्णन है आध्यात्मिक रूप का ज्यादा इसमें उल्लेख है तुलसीदास ने जो भगवान को बार बार नारायण परम परमात्मा आध्यात्मिक रूप उनका जो जितना लिया है प्रतीक जितने दिए हैं बहुत अधिक अध्यात्म रामायण से है कथा का विस्तार वाल्मीकि रामायण का है आध्यात्मिक तत्व अध्यात्म रामायण का है इस प्रकार से अलग अलग जितने ग्रंथ हैं उनमें भगवान की कथा किसी विशेष भाव से विशेष अंश के रूप में वो लिखी गई और फिर ये जो ग्रंथ मिलते हैं भगवान की कथा के पुराणों में या अन्यत्र जैसे महाभारत है उसमें भी कथा है तो देखते हैं कि सब जगह ये कथा भगवान की है लेकिन इसके अलावा भी और भी रामायण की कथा लिखी बहुत लोगों ने संस्कृत में लिखी एक जो है हनुमान नाटक करके है कालिदास ने भी रघुवंश ने लिखा वो भी भगवान का ही चरित्र है ऐसे और और संस्कृत के बहुत से ग्रंथ हैं जिन्हें भगवान की कथाएं और फिर जब हिंदी के प्रारंभ हुआ तो तुलसीदास जैसे केशवदास जैसे इन लोगों ने बहुत लोगों ने फिर हिंदी में भी रामायण लिखी लेटेस्ट रामायण जो साहित्यिक रामायण है साकेत करके मैत्री गुप्त ने लिखी फिर सीताराम करके जो है एक उत्तर्ज करके रामायण जो वो उस प्रकार की राधे श्याम वाली रामायण राधे श्याम तर्क वो जो अपनी वो ग्रामीण लोगों के लिए सरल भाषा में और उस प्रकार की लिखी गई हिंदी में भी बहुत सी रामायण आ गई संस्कृत में बहुत सी रामायण लेकिन ये सब जितनी भी रामायण की कथाएं हैं जितनी भगवान की ये सब किसी युग की है अन्य युगों में भी रामायण की कथाएं लिखी गई अन्य कल्पों में भी भगवान की कथाएं लिखी गई कालभूषण ने जो कथा सुनाई थी रामायण बना दी गई शंकर जी ने जो कथा बनाई रामायण बनाई उसके आधार पर तुलसीदास ने लिखी है शंकर जी की कथा शंकर जी ने जो पार्वती को सुनाया है तुलसीदास जी ने उसी को फॉलो किया इस प्रकार से देखते हैं कि कहीं कहीं जो हो इस प्रकार से बहुत सी कथाएं और भी है ये ये सुतीक्षण मुनि हो गए उन्होंने भी कथा लिखी अगस्त मुनि हो गए उन्होंने भी कथा लिखी भरद्वाज मुनि हो गए उन्होंने भगवान की कथा लिखी इनकी सबकी कथाएं भिन्न भिन्न कल्पों में है सबकी रामायण उपलब्ध है लगभग पचास साठ हजार श्लोक सभी रामायणों में जितनी भी रामायण थी उनमें सब में इतने इतने श्लोक हैं वो किसी किसी में लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख दो दो लाख भी हो गए लेकिन चालीस हजार अट्ठावन हजार छप्पन हजार साठ हजार ऐसे श्लोक तो इन सभी रामायणों में है अगस्त में उनकी भी रामायण है इसके बाद फिर हनुमान जी की कही हुई रामायण हनुमान जी तो भगवान की कथा के बड़े प्रिय हैं तो उनकी भी कथा है हनुमान जी ने ये रामायण सुनाई एक बार सूर्य भगवान को तो वो भी एक रामायण उपलब्ध है एक बार हनुमान जी ने फिर चंद्रमा को ये कथा सुनाई तो वो भी एक रामायण हनुमान जी की दो दो रामायण इस प्रकार की वो उपलब्ध हो गई फिर और और फिर वे जैसे सुग्रीव हैं उन्होंने भी ये कथा तारा को एक बार बाद में सुनाई बाद में तारा ने पूछा कि आप युद्ध में गए थे और युद्ध हुआ इतना और उसमें फिर अयोध्या भी गए भगवान राम का राज्य भी देखा उनकी हमको भी जिज्ञासा हम जानना चाहती हैं कि उन्होंने क्या क्या तुमने देखा तो बताओ जरा तो तारा को फिर सुग्रीव ने कथा सुनाई भगवान की तो वो भी एक रामायण हो गई तो एक कल्प में वो रामायण भी लिखी गई फिर सब संस्कृत की रामायण इस प्रकार से लिखी गई बहुत ये जितने भी युथक थे पद्म अठारह युतक बानर है हाँ? तो उन्होंने सब जितने यूथक थे मैंने वो सब युद्ध लड़े थे और ये सब के सब एक एक युद्ध के अपने घटनायक गुटनायक कुछ कहना चाहिए या जो थे वो अपने अपने वर्ग के थे तो इन सब लोगों ने युद्ध देखा था सब युद्ध लड़े भी थे तो ये इनसे जब बाद में जब जब इन लोगों से जिज्ञासा हुई लोगों ने पूछा फिर भगवान की कथा जैसी सुनी थी जैसी देखी थी वो सबका सब वर्णन उन लोगों ने किया है तो सबकी कथाएं सबकी हो गई अब देखो कितनी कथाएं हो गई कितनी रामायण हो गई सब तो वो सब रामायण जो वो हो कितनी किसी कहते हैं कि राम रामचरित्र या पारा और उन सब कथाएं जितनी सब सब एकदम से रिपीटेशन नहीं है अनुवाद मात्र नहीं है वो सब कथाएं जो है वो विभिन्न भावों से लिखी हैं कहीं भक्ति की अधिकता है कहीं ज्ञान की अधिकता है कहीं प्रेम की अधिकता है कहीं भगवान राम की नाना चरित्र हैं तो उन चरित्रों के विभिन्न पक्षों को ले लेकर के कहीं किस चरित्र की प्रधानता है कहीं किसी चरित्र की प्रधानता है इस प्रकार सब कथाएं आज भी जैसे लोग कथा कहते हैं कथावाचक बहुत से हुए हो रहे हैं होते हैं और जब कथा सुनाते हैं तो उनकी हर की हर एक की कथा अपने ढंग की होती सुना में रामचरित मानस है लेकिन सबकी कथा अपनी निराली होगी हाँ, वो अपने ये नहीं कह सकते कि जैसी उनकी कथा वैसी उनकी कथा सबकी दोनों एक सी कथा ऐसे आप नहीं कह सकते कुछ न कुछ अंतर उनकी कथाओं में रहते ही है किसी को कर, कोई कथा किसी भाग का कुछ सुनाने में बड़ा उत्साह होता है और किसी का दूसरा प्रसंग आता है तो उसको सुनाने में उत्साह आता है पहले हम बहुत पहले सुना करते थे केवल प्रसंग कई लोग सुनाया करते थे भगवान करने गए और केवट हवा मांगी नाव न केवट आना वो कथा जो है वो लोग बात बहुत सुनाते थे तरह सुनाते थे बहुत अर्थ सुनाते थे उसके तो केवल प्रसंग ही लोगों को बहुत पसंद था वही कथा बहुत अच्छी लगती थी बार बार सुनते थे लोग बार बार बार सुनाई जाती थी अब उतनी केवल प्रसंग सुनने में नहीं आता उस जमाने में उसी की रिवाज एक प्रकार की चल गई थी बहुत प्रचलित था वो उसको सब सुनाते तो केवट का कैसा प्रेम भगवान को गुड़ प्रेम कैसा उसका है और प्रेम प्रेम है ऊपर से प्रयास भी करता है भगवान के साथ में तो वो सब कथा जो है सुनाने में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता था अच्छा सुनाते थे भगवान तो ऐसी भगवान की कथा जो है ये है अनंत कथाएं शंकर जी कहते हैं कि रामचरित सतकोटि पारा श्रुति शारदा वर्ण पारा कहते हैं कि इसका पार बार नहीं सुनाते इतने लोग सुनाते चले आ रहे हैं और सुनाते जा रहे हैं और फिर कोई सुनाएगा तो कोई नए रूप से नए पक्ष से नए ढंग से नए भाव से सुना देगा लेकिन वो सबकी कथा जो है नई के माने ऐसा नहीं है कि वो है नहीं वैसा उसकी कल्पना मात्र है ऐसे नहीं भगवान की तो कथा है ही है इसको वो विशेष उसके चित्र में आ जाती है कौन उसके मन में कौन कथा का कौन सा रूप किसी के चित्र में चढ़ जाता है जैसा चढ़ जाता है वैसे ही वो सुनाता है ठीक तो ये कहते शुद्ध शारदा वर्णन में पारा सब तो इस वेद भी सब कहना चाहे तो नहीं कह सकते सरस्वती भी सब कहना चाहे तो नहीं कह सकती वर्णन न पारा मैंने वर्णन बस हो गई कथा अब इतनी जितनी हमने सुना दी इतनी कोई कथा सुना नहीं सकता सब मैंने सुना दी ये कोई कह नहीं सकता क्लेम नहीं कर सकता कोई ऐसा राम अनंत अनंत गुणानी भगवान राम स्वयं अनंत है उनके गुण भी अनंत है उनके चरित्र भी अनंत है ये अनंतता भगवान के लिए भगवान अनंत है परम परमात्मा देश काल वस्तु पर अपरिचिन्न अनंत परमात्मा वैसे स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान आदि अंत रहित है तो अनंत है ही है और फिर उसने जब चरित्र उसने किए शरीर धारण किया मानवीय रूप धारण करके लीलाएं की तो उन लीलाएं भी अनंत हो गई उन्होंने अपने व्यवहार में जो अपने गुण प्रकट किए परमात्मा गुण जो उनके जीवन में आए प्रकट हुए वो भी अनंत है हर जगह यहाँ देखेंगे कि उनका हर व्यवहार में हर कार्य में हर लीला में अनेक गुण उनके प्रकट होते रहते हैं तो जब भगवान की कथा सुनाते हैं तो भगवान की कथा क्या लीला क्या है चरित्र क्या है तो उनमें हर जगह भगवान के गुण ही गुण हर चरित्र में भगवान का गुण कोई न कोई गुण प्रकट होता है भगवान कैसे बोलते हैं कैसे उठते हैं कैसे चलते हैं कैसे रहते हैं कैसे उनके भाव है कैसा उनका संबंध है लोगों से उनके सभी के प्रति सब में एक अद्वितीय भावना है भगवत भाव उनके अंदर जो प्रकट होता है उन चरित्रों में वही वर्णन करने के लिए अब जिसमें जितनी भाषा की शक्ति हो जिसमें जितने भावों की गहनता हो बुद्धि में जितने उसके भाव पकड़ में आ सकते हो उतने वो समझे और समझ करके बुद्धि में जितना आगे उतना सुना लो इसलिए शंकर जी कहते हमारी बुद्धि में जहाँ तक आया हम समझ पाए उतना उतना हमने सुना दिया है दोनों तो वैसे जन्म कर्म अनंत अनंत मानी भगवान के जन्म भी अनंत कर्म भी जन्म अनंत के माने अनेक बार अवतार दिया एक बार नहीं कितने बार अवतार दिया तो जब कितने कल्प बीत गए कोई गणना कर सकता कितने कल्प सृष्टि के बीत गए जितने कल्प हो गए हर कल्प में कई में भगवान अवतार लेते रहे तो जितने कल्प बीत गए तो भगवान के अवतार भी हो गए इसलिए अनंत कल्प हो गए अनंत अवतार भगवान के हो गए जन्म अनंत हो गए और फिर उनमें जो भगवान ने हर कर्म में जो लीलाएं की वो लीलाएं बहुत कुछ तो एक प्रकार की है जैसे अयोध्या में उनका अवतार लेना रावण को मारना और रामराज जी की स्थापना करना बन जाना ये सब होता ही है जानकी विवाह इत्यादि की लीलाएं सब होती है लेकिन उन सब लीलाओं में भी प्रकारांतर से कुछ न कुछ हर में भेद भी हो जाता है एकदम से जैसी की तैसी नहीं होती उनमें कुछ कुछ अंतर भी होता जाता है इसलिए कि वो कथाएं बहुत हो जाती है अनेक प्रकार के अनेक कल्पी की कथाएं रामचरित मानस में देखते हैं कि अनेक तत्वों का प्रसंग ले लेकर के तुलसी को दास को जहाँ से पता चला जो उनके भाव में आया तो कोई किसी कल्प की कोई किसी कल्प कथा अभी अभी देखते हैं इसमें जो है ये है जो भगवान का चरित्र का समापन शंकर जी ने किया तो वो न सीता का परित्याग हुआ और न भगवान का साक्षी ध्यान में जाने का वर्णन हुआ ये सब नहीं हुआ लेकिन क्यों नहीं हुआ अब लोग कहते हैं कि ये तो परम परमात्मा के भगवान अवतार थे ब्रह्म के अवतार थे और सीता जी महामाया थी कभी कभी अवतार ऐसा भी होता है कि भगवान में जो विष्णु भगवान त्रिदेवों में से विष्णु है वो भी कई कल्पों में अवतार ले लेते हैं और यही लीला इस प्रकार की करते हैं तो जब वे अवतार लेते हैं तब तो फिर ये होता है कि सीता जी का परिचार भी होता है और फिर वो अपने त्रिदेव जहाँ पर है तो वहां पर अपने जाते भी हैं लेकिन ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है इसलिए तो वो कहीं जाता है सर्वत्र विद्यमान करता पहले इसलिए भगवान जब वो कहीं बैठक धाम जाए यहाँ जाए वहाँ जाए ये जाने की बात उनके ऊपर नहीं आती है और दूसरे सीता जी जो है वो हो आदिशक्ति है और इतनी महान अपने चरित्र में गुणों में इतनी प्रकट है और राम राज्य की स्थापना हुई तो शक्ति हृदय में इतना अधिक भगवान राम के प्रति सीता जी के प्रति आदर हो गया कि किसी को इस प्रकार की हिम्मत नहीं पड़ी स्वप्न में भी उसकी बात नहीं आई कि सीता जी में कोई दोष है आगे पीछे कहीं किसी ने नहीं बोला जब नहीं बोला तो सीता जी के परित्याग की भी बात नहीं आई लेकिन लौकुश तो पैदा नहीं हुए तो आप वाल्मीकि आश्रम में पैदा नहीं हुए तो अयोध्या ही पैदा हो गए वहीं तब देखो गई कहीं कोई कथा है कहीं कोई है इस प्रकार के चरित्र भगवान के कल्प के कल्प के भगवान के चरित्र नाना प्रकार के इसलिए तुलसीदास तो ने उसके बालिका में कई सावधान कर दिया कि कोई भी इस कथा को सुनकर के शंका न करे अरे कहा वहां ऐसा लिखा वहां ऐसा लिखा वहां ऐसा लिखा ये शंका का वो लोग तो जानते नहीं परमात्मा क्या है उसकी लीलाएं किस प्रकार की है इसलिए वो समझते तो हैं सबको जैसी उनकी लौकिक होती लौकिक बुद्धि से ही परमात्मा को और उनके चरित्रों को जो लोग जानना चाहते हैं बस उनको शंका हो जाती है भंग हो जाता है उनको परमात्मा जैसा उसी दृष्टि से उनको देखें समझने की कोशिश करे तो फिर शंका होने की आवश्यकता नहीं ऐसे जन्म कर्म आनंद नाम आनी भगवान के नाम मानी और उनके नाम भी बहुत भगवान के भगवान के नाम भी अनंत है भगवान के चार है तो भगवान राम भगवान राम का नाम और उनकी कथा और उनका जो है उनके जो है वो दान ये सब है और अनंत है और सभी परमात्मा लोग हैं भगवान राम जैसे परम परमात्मा है वही तो उनका जो है वो हो जो उनका स्वरूप है ऐसे ही भगवान का नाम भी कोई लौकिक वस्तु नहीं है संसारी वस्तुओं के जैसे नाम होते हैं ऐसे नाम नहीं है जैसे हम ये देखते हैं कि नाम रूपात पर जगत मिथ्या है तो भगवान का नाम भी नाम तो है तो वो भी मिथ्या हो गया ये लौकिक नहीं लगती वहां देखो चूंकि हाँ, समस्त नाम मिथ्या है इसलिए राम का नाम भी राम का वो भी नाम है इसलिए मिथ्या हुआ हम्म, जैसे all man are mortal Socrates is the man therefore Socrates is mortal ये लॉजिक हो गई तो ये लॉजिक यहाँ पर कहोगे तो लॉजिक हो गई बिल्कुल पूरी हम्म, जितने नाम है जितने नाम रूपात्मक जितनी वस्तुएं सब मिथ्या और राम नाम और ये सब ये भी चूंकि नाम एक रूप है इसलिए मिथ्या ये नहीं लगता है यहाँ पर ये इसी होगा भगवान को कहते हैं भगवान कहते हैं तर्क के इस तर्क की सीमा में नहीं आते भगवान का नाम संसार की वस्तुओं के नाम की तरह से नहीं है भगवान का रूप संसार की वस्तुओं की तरह रूप नहीं है संसार की वस्तुओं के रूप सब माया करते हैं माया करते हैं माया के द्वारा पृथ्वी तीन गुणों की सत्र समस्त इनकी उत्पत्ति तीन गुणों के सम्मिश्रण से आरंकीकृत पंचमहाभूत उनसे सूक्ष्म रचना पंचीकृत उनसे की रचना ये माया में प्राकृत रचना है लेकिन परमात्मा प्राकृत वस्तु नहीं है अप्राकृत है है उसका नाम भी कैसे लौकिक जो माया वस्तुओं के जैसे नाम रूप है ऐसे उसका नाम रूप नहीं है इसलिए ये सब बातें जो भगवान की कथा सुनते हैं वो ठीक करके मालूम है कि वो कंफ्यूजन एक में एक आते ही रहेगा ऐसी कैसे जन्म जब सीकर वही कभी कर जाही कहते हैं जैसे कहते हैं कि पानी की बूंदे भी दो तो हो सकता है समुद्र के किनारे बैठो समुद्र में क्या कोई पानी है हम भी डालो असंभव जरूर है लेकिन कभी संभव हो जाए कभी भौतिक वस्तु है और वो सीमित है विभिन्न व्यक्ति आ सकती है अभी आपको तो जो है वो हो सकता है कि गणित के हिसाब से जैसे कि संख्याओं को बहुत बड़ी संख्याएं होती उनको तो सबको छोटा नाम दे दे करके करने लगे तो वो अपने वो भी जो उसकी उत्पत्ति कहा से हुई परमात्मा से हुई आत्मा है परमात्मा से राशन से अंत तो में जाएगी कहाँ वो समस्त बुद्धि उसी परमात्मा में दिन हो जाएगी तो कहाँ परमात्मा और कहाँ से उत्पन्न हुई एक छोटी सी बुद्धि भले उसको समर्पित करो टोटल करो अनंत बुद्धि करो लेकिन है सिद्धि परमात्मा जिसे की तुलना लोगों फिर भी छोटी है फिर दृष्टि बुद्धि के क्या कहना वो तो समर्थ बुद्धि का भी एक अर्थ है इसलिए व्यक्ति बुद्धि में कितना है तो इसलिए कहते हैं कि विमल कथा हरिपति जाएगी इसे भगवान की कथा जो है वो हरिपत दायिनी है मैंने उस परमात्मा को ये प्राप्त हर कभी क्या है जहाँ परमात्मा जिस पद पर है उसी पद पर वो व्यक्ति भी पहुंच जाए कथा लोग हैं तो स्वर्ग लोग है तो लोग हैं ये सब लोग हैं जहाँ लोग खत्म हो गए वहाँ क्या है हाँ, बस वो परमात्मा का पद है उस पद को प्राप्त हो गया मैंने जन्म लोग के विकार होकर के जो लोकातीत स्थिति है यहाँ हम्म, लोग नाम लोकात्मा भूति जगत सृष्टि जहाँ नहीं है वो सब परमात्मा का रूप है अपना वास्तविक स्वरूप है तो कहते उसी का तत्व प्राप्त होगा बस ये सब क्या है वेदांत ही बता रहे हैं देखो किस प्रकार हम जब कहते साक्षी हो जाने आत्मा हो जाने सर्वात्मा हो जाने धर्म परमात्मा हो जाने परमात्मा हो जाए तब तो नाम को प्राप्त जगत पुरोहित हो जाए कोई न दिखाई दे न ब्रह्म लोग न स्वर्ग लोग न मृत्यु लोग न पाताल लोग कहीं कोई नहीं है परमात्मा की वो करता है ऐसी आप